आप तैतालीसवा पृष्ठ निकालिए गायत्री मंत्र से ईश्वर के स्तोते प्रार्थना उपासना करें ओ भूर भू तत्सवी ध्येयो यो नः प्रचोदया समादरणीय स्वामी जी आचार्य जी उपस्थित विद्वदगण ब्रह्मचारी सभी न्याय दर्शन के पढ़ने वालों को योगाभ्यास में जो है कुछ समय लगाना चाहिए कभी कभी पढ़ने वाले ये विचार करते रहते होंगे कभी देखना आगे चल कर योगाभ्यास कर लेंगे ऐसा सोचते हूं ऐसा सोचना हमारे लिए उपयोगी नहीं दर्शन की विद्या जो है ये हमको बतलाती है वेदों की विद्या ये बतलाती है इसलिए पढ़ते पढ़ाते हुए अष्टांग योग का अभ्यास करते रहना चाहिए न्याय दर्शन के अंदर आपने पढ़ाई होगा कि इन सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है आपको ये दर्शन की विद्या जो है ये वेदों की विद्या है आपको मोक्ष मार्ग को बतलाएगी वेद में एक बात कही हमारे सबके लिए सावधान किया ये मनुष्य का जो शरीर है ये कल रहेगा या नहीं रहेगा इसलिए ईश्वर को जानना चाहिए इस चेतावनी से व्यक्ति को विवेक और वैराग्य जो है उत्पन्न होते हैं इसलिए पढ़ते जाएं पढ़ाते जाएं और ईश्वर प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहे अब यहां हम पढ़े सुनेंगे जब व्यक्ति इस प्रकार अंतर्यामी व्यापक ईश्वर के कर्मों को देखता जानता हुआ यह निश्चित कर लेता है कि ईश्वर प्रत्येक अच्छे बुरे कर्मों का फल देगा ही तो व्यक्ति अत्यंत पुरुषार्थ से मन वचन कर्म से होने वाले बुरे कार्यों को छोड़ देता है सदा ध्यान रखना हम हम मन से वाणी से शरीर से कर्मों को करते रहते हैं जब हम ईश्वर को ऐसा मानते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों का फल देगा ही तो सावधान रहते हैं और उससे अच्छे कर्मों को करते हैं और अशुभ कर्मों को छोड़ देते हैं इसलिए आप सदा ईश्वर को ऐसे जानते रहें हमारे अंदर बाहर व्यापक ईश्वर विद्यमान है और हमारे सब कर्मों को देख रहा है जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि यदि मैंने ईश्वर प्रदत्त मन वाणी शरीर आदि साधनों का उचित उपयोग नहीं किया तो उसका दंड मिलेगा तब ये सारा पुरुषार्थ इसे के सुधार में लगा देता है जैसे कि हमने जोर से हाथ घुमाया तो हाथ में चोट आ गई तो इसका दंड मिलेगा भोजन अधिक अथवा प्रतिकूल किया तो पेट खराब हो जाएगा होगा खराब हो गया उसका दंड मिलेगा ऐसे ही मन इंद्रियों का असंयम असंयम करना ईश्वर की उपासना न करना यम नियमों का पालन न करने से भयंकर दंड मिलेगा इसलिए सदा ये याद रखें ईश्वर की उपासना न करने से भी हमको उसका दंड मिलता है यम नियमों का पालन न करने से भयंकर दंड मिलता है मुझे घड़ी सीखने के पश्चात खड़ी बारह बारह मुझे बारह खड़ी सीखने के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश मिला तो उसमें इतनी श्रद्धा थी कि एक एक पंक्ति को पत्थर की लकीर समझकर वैसा ही आचरण करता था और उसके विरुद्ध आचरण को मन वचन कर्म से छोड़ देता था आप न्याय दर्शन को पढ़ते हो एक एक बात को इतनी श्रद्धा से पढ़ो कि वो आपके मन में बैठ जाए इससे अच्छे संस्कार बनते हैं और बुरे संस्कार दूर होते हैं जब इच्छा इच्छा हो तभी खा लेना खड़े खड़े खा खाना ये सभी दोष हैं इससे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और चोरी आदि की भी आदत बनती है जैसे कि कोई अच्छी मिठाई देख गई गई खाने की इच्छा हो जाएगी और नहीं मिली तो जैसे तैसे उसे ले लेने का प्रयत्न करें हम अनेक वर्ष तक गुरुकुल में रहे परंतु कभी किसी के प्रति मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं होने दिया वाणी से तो तो मैं मैं की स्थिति नहीं आई शरीर से लड़ाई झगड़ा नहीं किया ऐसा व्यक्ति सोचता है कि सारे झगड़ों का मूल कारण तो अपने जो बड़ा मानना कारण तो अपने को बड़ा मानना तथा वस्तुओं का वस्तुओं पर अपना स्वामित्व जमाना इसलिए हमें सभी वस्तुओं को सब विद्याओं का ये स्वामी ईश्वर को मान करके चलते रहे आपको पढ़ने को या सुनने को मिला होगा योग दर्शन में अनेक बार ईश्वर प्रणिधान का पाठ किया उससे हमको अधिक सहायता मिलती है सभी वस्तुएं सभी पदार्थ ईश्वर के हैं हमारे प्रयोग के लिए दिए हैं और ईश्वर के मान करके इनका प्रयोग करते रहें तो अनेक दोष दूर हो जाएंगे जबकि मैं ही नहीं रहूंगा और सामने वाला भी नहीं रहेगा तो क्या बड़प्पन क्या स्वस्वामी संबंध एक बार जब बता दिया कि ये काम ऐसे करो अन्यथा हानि हो जाएगी फिर भी वैसा न करना प्रमाद है प्रमाद के कारण प्राय भूल होती है यद्यपि कोई भूल नहीं होगी ये तो संभव असंभव है क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है किंतु व्यक्ति अत्यंत सावधान रहे तो कम भू, भूलें होंगी और यह भी विनय में लिखा है कि मुझसे कोई भूल न हो कोई इच्छा भी न हो पाप कर्म की इसे इसे प्र, इस इसका भी अभिप्राय यही है कि बुद्धि पूर्वक कोई भूल न हो ईश्वर की तरह कभी भूल नहीं होगी ऐसा नहीं है यदि कोई व्यक्ति अपना दोष बताए तो स्वयं को उसका उपकार मानना चाहिए यदि हमारा दोष कोई व्यक्ति बताए तो उससे बुरा नहीं मानना चाहिए उसका उपकार मानना चाहिए ऐसा अभ्यास किया जाए प्राय व्यक्ति जब गुण बताते हैं तो कुछ प्रेम करता है दोष बताते हैं तो उसके घृणा होने लगती है अपने दोष को मानने में सदा उद्यत रहना चाहिए क्योंकि उसके बताने पर यदि ये दोष पकड़ में आ गया तो हम उसे दूर कर सकते हैं इससे हमारा सुधार होगा यदि दोष नहीं भी है तो भी उसे सहन कर लो कि कोई बात नहीं गलती हो गई है यदि सामने वाला सुनना चाहता है तो उसे प्रेम से बता सकते हैं कि यह दोष मैंने नहीं किया आपको परीक्षण करने में कुछ भूल हुई है दोष बताने के लिए भी दोष का ठीक से परीक्षण करे मधुर सत्य हितकारी रूप में बताना चाहिए ईश्वर में रुचि बढ़ाने के लिए सभी वस्तुओं से अपना स्व स्वामी संबंध हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें जीवों का ज्ञान बल ने के बराबर है एक बात बताई ईश्वर में रुचि बढ़ाने के लिए सभी वस्तुओं से अपना स्वस्वामी संबंध हटाना पड़ेगा व्यक्ति जब ईश्वर के गुणों को अच्छे प्रकार से जान लेता है तो वो देखता है कि सृष्टि का निर्माण और जो भी वस्तुएं हैं जो भी कुछ है वो ईश्वर की ही है यदि नहीं जानता तो वो वस्तुओं को अपना तो मानता है और ईश्वर का मानना छोड़ देता है हम जीवों का ज्ञान बल न के बराबर है आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमें अपने ज्ञान और बल को देख पाएंगे वो इतना मिलेगा कि अकेला जीव आत्मा का ज्ञान और बल जो है वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता इतना है केवल ईश्वर प्रदत्त साधनों से ही कुछ कर सकेंगे जब तक अत्यंत प्रसाद से ग्रहण करने योग्य का ग्रहण और छोड़ने योग्य को छोड़ नहीं देते तब तक योग में प्रवेश नहीं कर सकते इसमें ये बात जानने की है कि हम छोड़ने योग्य को छोड़ नहीं सकते और ग्रहण करने के लिए जो है उसको ग्रहण नहीं करते तब तक योग में प्रवेश नहीं होगा इसलिए छोड़ने योग्य को छोड़ना ग्रहण करने के योग्य ग्रहण को करना है जैसे जब तक एक व्यक्ति से भी द्वेष कर रहे हैं तब तब योग में प्रवेश नहीं कर सकते व्यक्ति को सदा सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने का अभ्यास करना चाहिए इसलिए यमों के अंदर अहिंसा का जो प्रयोग हुआ सभी प्राणियों के साथ सदा प्रेम से रहना और वैर भाव को छोड़ देना यहां से योग का आचरण आरंभ होता है अपने शरीर मन को नियंत्रित करके सभी ओर देख कर चलना इससे व्यक्ति बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकता है यही दृष्टि पूतम निषेध पादम का जो अर्थ है ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वालों का व्यवहार तो विलक्षण ही होता है उसके लिए जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए वैसा जो है आप नहीं कर रहे इसलिए ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चलने वालों का व्यवहार विशेष होना चाहिए अब इसको विराम दिया जाता